कह मुनि प्रभु सुनु विनति मोरी अस्तुति कर कवन विधि तोरी महिमायमित मोरिमति मुख रविसनमुखख जोरी श्याम तामरस दाम शरीरं जटामुकुटपरिधनमुनिचीरं पाणिचापसर कटितुणीरं नौमि निरन्तर श्रीरघुबीरम् मुनि कहने लगे हे प्रभो मेरी विनती सुनिए मैं किस प्रकार के से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र धारण करते पहने हुए हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ मोह विपिन घन दहन कृषानु संत सरोह कानन भानु निश्चर करे बुथ मृगराज प्रातु सदानो भव खगबाज अरुणनयन राजीवसुवेशं सीतानयन चकोरनिशेषं हरषिदिमायनस बालमरालं। नौमि उर बाहु विशाल जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए वाज रूप है वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ संसय सर्प ग्रसन उर्गार समन सुकर्कस तर्कविषादः भवभञ्जनरन् जनसुरयूथः सातत्रातु त्रातु नो निर्गुणशगुणं विषमसमरूपं ज्ञानगिरागो अतीतमनूपम् अमलमखिलमनवद्यमपारं नौमि रामभन् भारम जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ भक्तकल्पपादप आरामः तर्जन क्रोध लोभमदकामः अतिनागर भव सागर सेतुः त्रातु सदा दिन दिनकरकुलकेतुः अतुलित भुज प्रताप धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्मवर्म ग्राम संतत संतनो तुम राम जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं वे सूर्यकुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है जो बल के धाम है जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें जतपि बिरज व्यापक विनाशे सबके हृदय निरंतर बासे तदपि अनुज श्रे सहित खरारे बसतु मनसि मम काननचारे जे जानहिते ते जानहु सगुण यगुण उर अन्तर्जामिं जो कोशल्पते करहु सुराम हृदय मम अयनाम यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं तथापि हे खरारी श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए हे स्वामी आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हों ले जाना करें मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे असय अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सुन मुनि बचन राम मन भाए दहुरि हरसि मुनि वर उरलाय परम प्रसन्न मुनि मोहि जो वर सुतोहि मुनि कह सु बर कबहु न जाचा समुझि परई झूठ का साचा ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ मुनि सुतिक्षण जी ने कहा मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं मुझे समझ ही नहीं आ पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है क्या मांगू क्या नहीं तुम ही निकला गए रघुराए सो मोहि देहू दास सुखदाय अबिरल भगते निरत विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान प्रभु जो दिन हसो बरु मैं पावा अब सो दे हो मोहि जो भावाम अतः हे रघुनाथ जी हे दासों को सुख देने वाले आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मुने तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ तब मुनि बोले प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धर राम मम हिय गगन इंदु बसहु सदा काम हे प्रभु हे श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए